गुरुदेव सिंह के तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं ये सारा काम इनका ही है और ये भी कहने की ज़रूरत नहीं कि ये खान साहब उस्ताद अमजद अली खां के शागिर्द हैं बहुत सीनियर स्टूडेंट हैं उनके बड़े सीनियर पीपल हैं बहुत से बच्चों को सिखा रहे हैं और आज मैं समझता हूँ कि सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज के दरबार में राग दरबारी पेश करेंगे तो आइए इनसे दरबारी सुने और तबले पे संगत करेंगे बड़े ही बड़े ही अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने तालीम ली है उस्ताद शौकत हुसैन से उस्ताद फैयाज खान साहब से और तबला के सम्राट उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब से तो उनके शागिर्द हैं शाहबाज हुसैन साहब इनका स्वागत है हार्दिक स्वागत है तो आइए गुरुदेव से सुरूद पर सुने राग दरबारी